वो तो आसमानों और जमीन का मूजित है उसका कोई बेटा कहां हो सकता है जबकि उसकी कोई बीवी नहीं उसी ने हर चीज पैदा की है और वो हर हर चीज का पूरा पूरा इल्म रखता है